ॐ वाङ्मये प्रतिष्ठिता मनो मे वाचि प्रतिष्ठितम् आविया वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि दिया है तुरोपनिषद प्रथम अध्याय के प्रथम खंड का कुछ विचार हुआ पूरा आगे द्वितीय खंड आरंभ करने जा रहे हैं प्रथम अध्याय प्रथम खंड में यही हुआ सृष्टि के पूर्व में एक आत्मा ही था आत्मा से अतिरिक्त कुछ भी नहीं था उस आत्मा ने विचार किया लोगों की सृष्टि करो लोग इसलिए सृष्टि करना है पूर्व में प्राणियों ने कर्म किया हुआ है उसका फल भोगना के लिए स्थान चाहिए शरीर चाहिए इंद्रिया चाहिए अधिष्ठात्री देवता चाहिए तो सबसे पहले लोक की सृष्टि की विचार किया लोक सृष्टि होने के बाद में उस उसको भोग के योग्य शरीर की आवश्यकता है विराट शरीर के वो तो पंचभूतों से पिंड निकाला और उस पिंड में इंद्रिया बनाई गोलक बनाई और गोलक में इंद्रिया और इंद्रियों के बाद अधिष्ठात्री देवता चेतन सृष्टि हो गई समष्टि शरीर का जो समष्टि शरीर है विराट जिसको बोलते हैं वहां पर अधिष्ठात्री देवता की स्थिति सुनाएगी अब आगे बोलते हैं जो समष्टि शरीर जो जिसको विराट बोलते हैं त्रिभुवनाभिमानी जो होगा उसमें जो सियतन देवता की सृष्टि हो गई तो ये देवता संसार के सागर में पड़ गए सृष्टि होने के बाद ये बोलना चाह रहे हैं आगे देवते खंड में यही चलेगा टीका में कहते हैं एवं समष्टि समष्टि नाम इंद्रियाणाम तद अभिमानी देवता नाम का उत्पत्ति रूपा प्रथम खंड में सिद्ध किया समष्टि इंद्रियों का उत्पत्ति बताई और उस इंद्रियों में जो अभिमानी देवता होंगे अधिष्ठात्री देवता उनकी उत्पत्ति का कथन करके तासाम नाम भोग योग्य अल्प व्यस्ति देह सृष्टि तेसु नाम भोगार्थम व्यस्टि रूप प्रवेश विवक्षु होती है तद उपघात तेना सृष्टि दर्शन ठीक है समष्टि सृष्टि को बताइए और समष्टि सृष्टि में इंद्रिया इंद्रियों की उत्पत्ति बताई उसके अभिमानी अधिष्ठात्र देवों ने कथन कर दिया अब उन देवताओं के भोग योग्य वो जो विराट शरीर होगा भोग के योग्य नहीं होता बहुत बड़ा है भोग के योग्य नहीं होता इसलिए दृष्टि शरीर चाहिए चौरासी लाख योनिया चाहिए उन शरीर उन देवताओं को इंद्रियों के अधिष्ठात्री देवता हैं उनको भोग लिए भोग योग्य अल्प व्यष्टि देह सृष्टि भोग के योग्य जो अल्प शरीर है बेष्टि शरीर है छोटे छोटे शरीर है उसमें सृष्टि बतलाना है और तेसु देवता नाम भोगात्म उस सृष्टियों में देवताओं को भोग भी होना है उन शरीरों में बैठ करके देवताओं का भोग होना है व्यष्टि रूपेण प्रवेश समझा तो इसलिए बेष्टि रूप से प्रविष्ट भी होना है वो तो देवताओं का प्रवेश भी होना है भोग करने के लिए शब्द स्पर्श रूप रसगंध आदि का विषयों का भोग करने के लिए उन व्यष्टि शरीरों में उन देवताओं का प्रवेश करना है प्रवेश जगत विवक्ष तद उपघात क्षेत्र प्राशन स्थिति इसे उपोदघात रूप से क्यों कहते हैं भूख और प्यास की सृष्टि को पहले बताने का उन देवताओं को भूख प्यास लगते इसके लिए उनको शरीर चाहिए भूख भूख प्यास मिटाने योग्य शरीर चाहिए ये कहना चाहते हैं पहले भोग प्यास की सृष्टि कर दिखाना चाहते हैं कहा इसके लिए मान भोग प्यास रूपी रोग लग जाएगा संसार सागर में पड़ जाएगा ये बोलना चाहते हैं इसलिए मंत्र है ताएता देवता सृष्टा अस्मिन् महत्यर्णवे में प्रापतन असनायाति पाश्चात्यम अनुवार्जत कायेनम् अब्रुवन् आयतनम् न प्रजानीहि यस्मिन् प्रतिष्ठिता अन्नम् अदामेति सा देवता सृष्टा अस्मिन् महत्यर्णवे तम तम् असनाया पिपासाभ्यम् अन्नवार्जत् कायेनम् अब्रुवन आयतनम न प्रजानी प्रतिष्ठिता अन्नम अदामेति देवता सृष्टा हो परमात्मा के द्वारा जो सृष्ट देवता है माने इंद्रियों की जो अधिष्ठात्री देवता की सृष्टि की थी विराट शरीर बनाया उसके बाद इंद्रिया गोलक बनाई इंद्रिया बनाई उसके बाद चेतन देवता की सृष्टि की थी ताद एता देवता यही देवता है सब पूर्वोक्त देवता इंद्रियों के अधिष्ठान देवता अस्मिन महती अरण में प्राप्त वो देवता गिर गए प्रकृष्ठ अपतन प्राप्त गिर गए सर कहा इस महान सागर में गिर गए महती अरण में महान समुद्र है संसार सागर इसको पार करना इतना सरल नहीं ऐसा सागर है इसका स्वरूप बताएंगे कुछ से संसार सागर का स्वरूप बताएंगे अस्मिन महती अरण में जो महान सागर है संसार रूपी सागर उसमें पड़ गए अरे भोग लग जाती है तो उसके बाद क्या क्या अनर्थ हो जाता पता है संसार रूपी सागर में पड़ गए इसलिए जब क्यों पड़े तो ये माने उसका तर्क देते हैं तम असनाया पिपास्याभ्याम अनुवार्जत करते हैं वो परमात्मा ने एक काम किया उस जो पहला प्रथम उत्पादित पिंड था विराट उसको भूख और प्यास के द्वारा युक्त कर दिया असनाया पिपाशा बुभुक्षा अर्थ में असमाय होता है और <clears throat> असनाया उदन्य धनाय बुभुक्षा पिपाशा गर्देशु ऐसे व्याकरण सूत्र है असनाय बुभुक्षा अर्थ में असनाय पद का प्रयोग होता है तम असन बुभुक्षा से युक्त कर दिया असनाय मानी बुभुक्षा असनाया पिपाशाभ्याम तम प्रथम उत्पादितम पिंडम सबसे पहले उत्पादित जो पिंड है विराट उसको भूख प्यास से युक्त कर दिया परमात्मा ता एनम अब्रुवन ता देवता उस शरीर में रहने वाले जो देवता थे एनम परमात्मा जिन्होंने सृष्टि की है उन परमात्मा को अब्रुवन उन देवताओं ने कहा तो इंद्रियों के अधिष्ठात्री देवता चेतन है उन्होंने कहा क्या कहा आयतनम न प्रजानी हमारे लिए रहने का स्थान की व्यवस्था करो ये शरीर में रह करके भोजन करना संभव मैंने भोग भोगना संभव नहीं है बहुत बड़ा शरीर है छोटे छोटे शरीर बनाओ हमारे ज्येष्ठ शरीर बनाओ आयतनम न प्रजा न माने अस्माकम हम लोगों को के लिए आयतनम प्रजानी ही हम लोगों के लिए आयतन रहने का स्थान की व्यवस्था कीजिए ऐसा क्यों यशमिन प्रतिष्ठता अन्नम अदाम जिसमें बैठ करके हम अन्न खा सके अपने अपने विषयों का ग्रहण कर सके अन्न वही है अद्यते अन्नम अपने अपने विषयों का ग्रहण करना ये अन्न होगा जिसमें बैठ कर कर सके ऐसा काम कीजिए हमारे लिए बेष्टि शरीर बनाइए ऐसा प्रार्थना की यहां से बेष्टि शरीर की उत्पत्ति की चर्चा होती है ये कहना चाह रहे अच्छा सहायता <coughs> तो भाष्य में कहा ता एता अग्नियादयो देवता जो लोकपाल के लो, माने लोक की रक्षा की दृष्टि से लोकपाल दृष्टि से जिनकी सृष्टि करके किया था वाणी के देवता अग्नि आदि करके अधिष्ठात्री देवता जो लोकपाल के रूप में सृष्टि किया था परमात्मा ने ता ये था अग्नियादय देवता जो अग्नि आदि देवता है अधिष्ठात्री देवता जितनी भी सृष्टि की है लोकपालत्व संकल्प सृष्टा लोकपाल रूप से संकल्प करके चिंतन करके वो सृष्टि किया था परमात्मा ने माने लोगों की रक्षा करेंगे करके मेरा बनाया हुआ लोग चौदह भवन की रक्षा करेंगे करके बनाया गया था ईश्वरेण श्रेष्ठा परमात्मा ने सृष्टि की थी जिनकी लोकपाल रूप से अग्नि देवता अश्विन संसारारणवे संसार समुद्रे महती महान संसार सागर में गिर गए प्रापतन बोल दिया गिर गए संसार संसारारवे का अर्थ करते हैं संसार समुद्र संसार रूपी समुद्र में समुद्र में पानी होता है यहां भी पानी है पानी के स्थान में क्या होगा दुख है ऐसे पता संसार आरवे संसार समुद्र महती महान है बहुत विशाल है संसार समुद्र इसको पार करना बड़ा मुश्किल है अविद्या काम कर्म प्रभव दुखोदके समुद्रे अर्णवे का विशेषण अज्ञान अपने स्वरूप का अज्ञान है अपने स्वरूप का जब अज्ञान होता है तो व्यक्ति को क्या होता है अविद्या घट गई है अविद्या आ गई तो विषयों की इच्छा होती है शब्द स्पर्श रूप रस आदि की इच्छा होगी अपने विषयों की इच्छा होगी इच्छा हो जाती है ये काम का अर्थ इच्छा अज्ञान जन्य इच्छा यदि अपना स्वरूप का ज्ञान होता तो हमें किसी वस्तु की आवश्यकता नहीं पड़ती सुसुप्ति आदि में देखा है अपने स्वरूप का अज्ञान है तो अन्य का धर्म हमने आरोप कर लिया इसलिए भूख पाश आदि हमें लगने लग गए प्राण का धर्म है सब धर्म हमने आरोप कर लिया तो स्थिति में कामना हो गई उस पूर्ति के लिए किस तरह से पूर्ति इच्छा हो गई इच्छा हो जाती है अविद्या काम अज्ञान से काम पैदा होता है मानी इच्छा पैदा हो जाती है विषयों की इच्छा अपने स्वरूप के अज्ञान से होती है काम मानी इच्छा और इच्छा जब पैदा होगी तो उस विषय की पूर्ति जिससे होगा उस साधन में कर्म करेगा उसके लिए ये संसार का स्वरूप ही हो जाता है अविद्या काम करना अपना स्वरूप का अज्ञान पर्याप्त है संसार में जाने के लिए क्यों विषयों की इच्छा होगी विषय अन्यों के लिए चाहिए तो उनके साथ तादाद में हो जाता है अपने स्वरूप का ज्ञान नहीं है प्राण आदि मन आदि के साथ में तादात्म है इंद्रियों के साथ तादात्म है शरीर के साथ में है इसलिए उनकी इच्छा की पूर्ति के लिए अपने काम करने लग जाएगा अविद्या से काम माने इच्छा काम में कामा इच्छा काम्यंते काम इच्छा इच्छा होगी इच्छा होने पर जिस विषय की इच्छा हुई थी उसकी पूर्ति के लिए कर्म करेगा यही होगा यही नियम है इसका ये संसार सागर यही है अविद्या काम कर्म प्रभव दगे कहा अविद्या काम कर्म से उत्पन्न होने वाला दुख रूप जल भरा हुआ है सागर दुख ही दुख है जिधर भी जाएंगे दुख मिलना है संसार का स्वरूप यही है अपना स्वरूप का ज्ञान है तो तत्त विषयों की इच्छा होती है वो विषय की इच्छा की पूर्ति के लिए न जाने कितने कष्ट झेलना पड़ेगा हाथ में कुछ आएगा कि नहीं पता नहीं ये स्थिति हो जाती है तो संसार सागर में दुख भरा हुआ है ये सागर में तो जल भरा हुआ है संसार सागर में दुख भरा हुआ है एक अर्णवे का विशेषण है अविद्या काम कर्म प्रभव दुखोदके कहा अविद्या इच्छा अविद्या से इच्छा अपने अज्ञान से इच्छा इच्छा से कर्म इससे उत्पन्न होने वाले दुख कर्म से दुख पैदा हो जाएगा दुख को घटे दुख रूपी उदर जिसमें भरा हुआ है दुख रूपी जल भरा हुआ है और कुछ नहीं मिलता इसमें तीव्र रोग जरा मृत्यु महाग्राहे समुद्र में मगरमच्छ बड़े बड़े ग्रह होते हैं ये तो संसार रूपी समुद्र में भी ग्रह मगरमच्छ है ऐसा समुद्र है ये महा अरणवे का विशेषण है सारे बहुत तीव्र रोग बड़े बड़े रोग लगे हुए हैं ये खा रहे रोग हमको खा रहे जैसे समुद्र में मगर बच्चा खाता है वैसे रोग खा रहा है प्राणियों को कष्ट हो रहा है तीव्र रोग है छोटे मोटे रोग नहीं बहुत बड़े बड़े रोग असाध्य रोग लगा हुआ है तीव्र रोग जरा दुख मृत्यु दुख ऐसे दुख आ ये ग्रह है मृत्यु खा रही है जरा अवस्था खा रही है ऐसा जो ग्रह जिस समुद्र में है संसारों के समुद्र में ऐसा होता है और अनादो अनंत है अज्ञानी के लिए अनादि काल से चल रहा है संसार और अनंत काल तक चलता रहेगा ब्रह्म ज्ञान के द्वारा ही नाश्य है ये जब तक आत्मज्ञान नहीं होगा यह अनादि काल से चल रहा है और अनंत काल तक रहेगा भी इसलिए अनादि अनंत है संसार नाम तो नचादि नचसम प्रतिष्ठा गीता के पंचदश कहा संसार का स्वरूप का अंत भी नहीं आदि भी नहीं कब से शुरू हुआ पता ही नहीं कब तक चलेगा और किसी महापुरुष को आत्मज्ञान हो जाए तब तो उसके लिए तो नाश हो जाएगा बाकी के लिए तो चलता रहेगा एक तीव्र रोग जरा मृत्यु महाग्रह है अनादो अनंत अनादि अनंत ये समुद्र है संसार रूपी समुद्र अनादि काल से चल रहा अनंत काल तक चलता रहेगा कोई तो काल की सीमा नहीं है ऐसा समुद्र है अपारे इस समुद्र से तो कोई पार कर भी सकेगा किंतु अपार समुद्र है पार नहीं हो पाता चक्कर काटता रहेगा चौरासी लाख योनि में घूमता रहेगा अपारे न विद्यते पारम यश्य स अपार तस्मिन अपारे समुद्रे महती अरण्य महान सागर है पार होना संभव नहीं ऐसा समुद्र है निरालंबे बीच में कोई आश्रय नहीं मिलता चलते ही रहना है एक शरीर पकड़ो छोड़ो दूसरे को पकड़ो तब तक तीसरे को पकड़ो ये चलता है पासपोर्ट मिला हुआ है चौदह भुवन की वीजा बदलता है चलता है बस इतना काम करता रहता है पासपोर्ट बना हुआ है चौदह भवन के पासपोर्ट है बस वीजा बदलेगा चल देगा ऐसा है निरालंबे कोई आलम्ब नहीं है सहारा नहीं मिलेगा बीच में ऐसा समझ रहे विषय इंद्रिय जनित सुख लव क्षण विश्राम है कभी कभी थोड़ा सा विश्राम मिलता है उसको चलते चलते जब अपने अनुकूल विषय मिल जाता है इंद्रिय का जो विषय है विषय और इंद्रिय जनित जब हमारे इंद्रिय और विषय के संबंध होता है किसी विषय के साथ हमारा इंद्रिय का संबंध होगा इष्ट विषय के साथ तो थोड़ा सा सुख मिल जाता है ये संसार में कभी कभी थोड़ा सुख मिलता है अपने अनुकूल विषय मिलने पर विषय इंद्रिय जनित सुखल व क्षण विश्राम कहते हैं विषय और इंद्र से उत्पन्न होने वाले जो क्षणिक सुख है इष्ट वस्तु मिलने पर थोड़ा सुख होता है भूखा आदमी भोजन मिलाता है थोड़ी देर के लिए आनंद हो जाता है विषय और इंद्रिय जनित दोनों के संयोग से उत्पन्न सुख लभ थोड़ा थोड़ा सा सुख है ऐसा क्षण विश्राम एक क्षण के लिए विश्राम पाता है फिर दुख में चलेगा थोड़ा सा सुख मिला फिर दुख में चला ऐसे चलता है पंच इंद्रिय अर्थ तृण मार्ग विक्षोभ उत्थित अनर्थ सतमहा उर्मो कहते हैं समुद्र में तरंगे उछाल होते हैं यहां भी उछाल है तरंग है संसार समुद्र में तरंग है ऐसे में डूब पड़ गए सारे चेतन देवता लोग ऐसा बोलते हैं प्रापतन है गिर गए सब ऐसे समुद्र में गिर गए कैसे समुद्र है ये कहते हैं पंच इंद्रियार्थ पांच इंद्रियों का जो विषय होगा शब्द स्पर्श रूप रस गंधा उसके जो तृष्ठा लगी हुई है ये मिले वो मिले वो मिले कोई भी वस्तु हम आर्जन करते हैं ये पांच तरह से भोगने के लिए करते हैं शब्द स्पर्श या तो सुनने के लिए या कोमल स्पर्श के लिए आर्जन करेंगे या चखने के लिए स्वाद के लिए करेंगे या सूंघने के लिए होगा या देखने के लिए ये पांच ही होते हैं कोई भी बनाया हमने कुछ भी किया किसी भी वस्तु का आर्जन किया उसका उपभोग पांच प्रकार से होता है शब्द स्पर्श रूप वो वस्तु का उपभोग होता है इसलिए कहते हैं पंच अर्थ पांच इंद्रियों का जो विषय है शब्द स्पर्श रूप सिद्धांत इनके जो तृष्णा है हाँ, पंच विषय आर्जन करके तृष्णा लगी हुई है लोग तृष्णा है तृष्णा रूपी जो हवा लगी हुई है मारूत है हवा समुद्र में जब हवा लगता है तो तूफान लहर चलता है सोमानी उठता है यहां भी सोमानी उठता है ये समुद्र इसमें कैसा है पंच इंद्रिया अर्थ जो पांच इंद्रियों का विषय है शब्द स्पर्श रूप रसगंध उनके जो तृप्त मान तृष्णा इनकी तृष्णारूपी जो मारूत है ऐसे जो मारूत माने वायु है उसके द्वारा विक्षोभित ये संसार समुद्र है जैसे समुद्र के पानी को विक्षोभित कर देता वायु तो सोमानी उठता है वैसे यहां भी विक्षोभित विक्षोभ से उत्थित जो अनर्थ सतमहा उर्मा अनर्थ करने वाले नाम नाना प्रकार के तरंग है इसमें जब पंच विषयों के तृष्णा से युक्त हुआ व्यक्ति का क्या क्या अनर्थ आ सकता है वही यह लहर है समुद्र की लहर है यही है ये उर्मी है जिस समुद्र में और कहते हैं रौरवादी नारक भी सब इसी में है कैसे दिखाते हैं महारौरवादी अनेक निरयगत हाहा इति इत्यादि पूजित आक्रोशन उद्भूत महारवे ये समुद्र में ऐसा एक नरक यातना भी है संसार यातना कैसे कहते महारौरवादी रौरवादी अनेक नरक हैं उस प्रकार के नरक अनेक निरय निरय माने होता है नरक अनेक प्रकार के नरक होने वाले जो हा हा कष्ट चिल्ला रहा अस्पताल में जाइए पता लग जाएगा क्या स्थिति है जन्म दुख जरा दुख मृत्यु दुख चिल्ला रहे हैं सब ये रौरव नरक आदि यही होते हैं महारौरवादी अनेक निरय महारौरवादी जो अनेक प्रकार के नरक हैं विरयमा नरक घटा उसमें में होने वाले नरक में पड़ने पर चिल्लाता हा हा हु करता है हा हा इत्यादि पूजिता आक्रोश पूजित माने स्वल्प ध्वनि आक्रोश है विशेष ध्वनि उत्कट ध्वनि हो जाती है चिल्ला रहे हैं थोड़े से परेशान है पर थोड़ा रोएगा ज्यादा आने पर ज्यादा रोएगा दोनों प्रकार की ध्वनि यहां सुनाई पड़ती है पूजित भी है आक्रोशन भी है सामान्य ध्वनि भी है विशेष ध्वनि भी है इसके द्वारा उद्भुत महा सब महान शब्द है इस संसार सागर में ऐसा महान रब है मान शब्द है रु शब्द धातु से रब बनता है ऐसा रब वाला महासमुद्र है इसमें ये तो हो गया अज्ञानी के लिए ऐसी स्थिति है अगर आत्मज्ञान चाहता है मोक्ष चाहता है तो इसी में कुछ साधन भी है इस संसार में साधन भी यही करना है तो साधन करना हो तो किस ढंग से होगा कहते हैं सत्यार जब दान दया अहिंसा समतम धृप्ति आदि आत्मगुण पाथेय पूर्ण ज्ञानो रूपे उड़ूपे कहते हैं इसमें एक पार होने की एक ही साधन है ज्ञान रूपी नौका है ज्ञान रूपी नौका ऐसे नहीं होगी उसी साधन चाहिए नौका ऐसे नहीं बनेगा कई जोड़ जाड़ करके नौका बनता है वैसे यहां भी वो नौका ज्ञान रूपी नौका बनाने के लिए साधन सत्य चाहिए सत्य भाषण यहां से शुरू होगा ज्ञान रूपी नौका प्राप्त करने के लिए आत्मज्ञान प्राप्त करना हो सत्य से शुरू होगा सत्य दूसरा आर्जव सरलता होनी चाहिए भीतर कुछ बाहर कुछ नहीं होना चाहिए जो सोचे वो बोले जो बोले वो करे ये सरलता जो सोचे कुछ और बोले जो और बोले करे कुछ और ये दुरात्मा की लक्षण होती है मनस्येकम कर्मण्य कर्मण्यकम महात्मा महात्मा की वाणी ऐसी होती है जो मन में सोचेगा वही बोलेगा जो बोलेगा वही करेगा ये महात्मा का लक्षण है उसको महात्मा कहते हैं मनस्येकम वचस्येकम कर्मण लेकम महात्मा और मनस्यन्नत कर्मण कर्मण्यत दुरात्मा दुरात्मा वही कहलाता है मन में कुछ और सोचता है वाणी में कुछ और बोलता है क्रिया में और कुछ और, और कर देता है उसको कहते हैं दुरात्मा महात्मा और दुरात्मा का ही पहचान है यही पहचान है किसी भी देश में हो किसी भी देश में हो महात्मा है जो भीतर सोचेगा वही बोलेगा जो बोलेगा वही करेगा वो महात्मा है भीतर कुछ सोचेगा मुख में कुछ और व्यस्य स्त्री की तरह मुख में कुछ और बोलेगा क्रिया में और कुछ करेगा वो दुरात्मा है ऐसा है तो कहते हैं ज्ञान के साधन भी यही होना है यही संसार सागर में बैठ करके पार होना है तो ज्ञान रूपी नौका है इसके लिए आत्मज्ञान रूपी नौका है वो नौका ऐसे मिलने वाला नहीं है कैसे मिलेगा ज्ञान रूपी नौका कहते हैं सत्य सत्य भाषण आर जब सरलता भीतर बाहर एक होना चाहिए जीवन में व्यक्ति को अगर आत्मज्ञान रूपी नौका चाहिए तो संसार से पार होना हो तो सरलता जब दान यथाशक्ति दान मन से दान वाणी से दान शरीर से दान जैसा दान हो कुछ नहीं तो श्रमदान कर सकते हैं ये नहीं धनदान ही करना धन नहीं है तो शारीरिक सेवा करो कुछ दान करो जो काम हो सकता है वाणी से दान दो कुछ अभयदान करो कुछ काम करो किसी की सहयोग करो मन से भी होता है इष्ट सोचो दूसरे के कम से कम अनिष्ट मत सोचो दान है केवल धन दान करने पर ही दान होता है ऐसी बात नहीं अगर दान करना चाहे तो कई प्रकार के दान है करना चाहे कर सकता है दान माने देना देना का नाम दान होता है शरीर से जो हो सके करे तो दान ये आत्मज्ञान के साधन सत्य आर्जव दान और दया करुणा युक्त तो होना चाहिए दूसरे के प्रति दुष्ट भाव नहीं आना चाहिए दूसरे के दुख से दयालु होना चाहिए हो सके तो उपकार करो उसके दुख में सहायता करो ऐसी होना चाहिए दया यदि आत्मज्ञान चाहिए तो संसार सागर से पार होना हो तो सत्य अर्घ दया दान अहिंसा हिंसा मात्र नहीं हो प्राणी मात्र की हिंसा न हो वो भी मन वाणी शरीर तीनों से जब योग सूत्र में कहा सबसे पहले अष्टांग योग के साधन में आया अहिंसा सत्य अस्त्य ब्रह्मचर्य अपरिग्रह यमा सबसे पहले सीढ़ी है वो आठ सीढ़ी में जाने के बाद आपको समाधि होनी है आठवां सीढ़ी है प्रथम सीढ़ी यह है अहिंसा सत्य अस्त्य ब्रह्मचर्य अपरिग्रह इसके आगे सूत्र दिया दूसरा ये कैसा होना चाहिए देश काल जाति अनविच्छिन्ना सार्वभौम महाप्रथा ये ऐसी चीज होना चाहिए पहले तो अहिंसा हिंसा नहीं होना शरीर से किसी की हिंसा न हो मन से भी हिंसा न हो वाणी से भी हिंसा न हो अरे दुष्ट वचन क्रूर शब्द बोलना हिंसा है दूसरे को कष्ट होता है जैसे चाकू भोंकने पर कष्ट होगा आपके वाणी से भी कष्ट होता है मधुर माधुरी वाणी बोलिए वाणी से भी कष्ट होगा मन से भी अनिष्ट सोचना ये हिंसा है मन वाणी शरीर तीनों से हिंसा न होना हिंसा और दूसरा सत्य मन वाणी शरीर तीनों में सत्य जो सोचे वही बोले सत्य जो बोले वही करे सत्य अहिंसा सत्य अस्त चोरी नहीं करना अच्छा। और ब्रह्मचर्य का पालन करना और परिग्रह का अभाव और का ठोर नहीं है जो मिलना है प्रारब्ध ने निश्चित कर दिया है आपने जो पहले किया उतना ही मिलेगा चाहे कहीं भी जाइए कितना चाहे समुद्र में भी जाइए आपको पात्र जितना बड़ा होगा पानी जल उतना ही मिलेगा ऐसा है तो प्रारंभ रहे परिग्रह का अभाव होना चाहिए साधक जीवन तो ये जो पांच चीजें बताई है ये नहीं कि कभी हो कभी ना हो ऐसा नहीं होना चाहिए सभी देश में ये नहीं कि उत्तर काशी में तो हिंसा नहीं करना चाहिए अन्यत्र जाकर के करें यहां चोरी नहीं करना चाहिए तीर्थ स्थान है अन्यत्र करें ऐसा नहीं इनके लिए कहा देश काल जाति किसी जाति के भी हिंसा आदि नहीं होनी चाहिए किसी काल में भी नहीं होना चाहिए किसी देश में भी नहीं होना चाहिए ये सार्वभौम महाव्रत है सर्वत्र चलना चाहिए केवल एक स्थान में करे दूसरे स्थान में न करे नहीं होगा ये ऐसा है ये अहिंसा भी ऐसी वस्तु है माने जो योग का प्रथम चित्तवृत्ति निरोध का सबसे पहले साधन यह है पहला साधन इतना होगा यहां से शुरू होगा चित्तवृत्ति निरोध के लिए चलेगा अष्टम आठवां पूरा होने पर चित्त वृत्ति निरोध होना है आपका आठवां स्टेप है वो प्रथम स्थान है वो अहिंसा सत्य अस्तेय ब्रह्मचर्य अपरिग्रह महा ऐसा रहा है तो ये सभी देश में होना चाहिए सभी काल में होना चाहिए और सभी जाति में वैसे देखो शेर भी अहिंसक होता है जंगल का शेर अपने बच्चे को नहीं खाता इतने मात्र से अहिंसक मानेंगे तो शेर भी अहिंसक है तो हम भी ऐसे करें कि ये तो अपना नहीं मारना ये मार दे इसको ये नहीं होना चाहिए सबके प्रति अहिंसा होनी चाहिए और सभी देश में यहां तो नहीं करना वहां जाके करना ये भी नहीं होना सभी काल में अभी तो नहीं करना कालांतर में करना ये भी नहीं होगा सभी देश सभी काल सभी जाति में ये पांचों बातों को ध्यान रखना होगा यह अहिंसा का स्वरूप होता है तो ज्ञान रूपी नौका के साधन बताते हैं संसार सागर से पार होना हो संसार सागर का स्वरूप बता दिया तो इसके पार होना हो तो सत्य सत्य भाषण जब मैंने सरलता जीवन में सरलता होनी चाहिए और दान यथाशक्ति दान शारीरिक दान मानसिक दान वाचिक दान जैसा दान हो सके दान दया मन में करुणा दुखी को देख करके दया द्रवीत हो जाना वो तो सहयोग करना दया अहिंसा हिंसा का अभाव मन पाणी शरीर तीनों से हिंसा का अभाव सभी देश में सभी काल में सभी जाति में हिंसा का अभाव यह अहिंसा है और समदम आदि जो गुण है समा मन को निग्रह करना दम इंद्रियों को निग्रह करना समदम आदि दम धृति धैर्य धारण कर हर परिस्थिति में धैर्य धारण कर ये भी गुण है अधीर नहीं होना अनुकूल मिल जाए तो ठीक है प्रतिकूल मिलते रोने लगे ऐसा नहीं धृति माने धैर्य धैर्य धारण करना परिस्थिति आत्मगुण पाथेय तो पूर्ण ज्ञान उपयोग करें यह आत्मा के प्राप्ति के साधन आत्म के प्राप्ति के साधन है ये वो गुण शब्द से बोल दिया आत्म प्राप्ति के साधन है ये पाथे हैं हाँ, ये उस मार्ग में चलने वाले साधन है आत्म प्राप्ति के मार्ग में चलने के साधन है पाथे पथी साधु पाथेय तत्र साधु अर्थ में पथि अतिथि अतिथि बसते ढाए प्रत्ये ढाए हुआ है मार्ग के लिए अनुकूल हो उसको पाथेय बोलते हैं आगे आत्मज्ञान के मार्ग में चलने वाले अनुकूल साधन है इसलिए पाथेय बोला इन साधनों को पाथेय पूर्ण ज्ञान रूपे इससे परिपूरित हो ज्ञान रूपी नौका ऐसे नौका हो नौका में बैठे ऐसे संसार सागर सत्संग सर्वत्याग मार्ग ये जो आत्म प्राप्ति का मार्ग में सत्संग महापुरुष का संग और त्याग माने संन्यास लोकेश वित्तेश्वर पुत्रेश्वर का परित्याग ये मार्ग है इस मार्ग में इस संसार सागर सत्संग माने यहां पर गुरु उपशक्ति आदि महापुरुष का संसर्ग प्राप्त करना और सर्वत्याग का अर्थ लोकेश्वर वित्तेश्वर पुत्रेश्वर आदि माने संन्यास त्याग ऐसा मार्ग में मोक्ष तीरे यह संसार सागर में ऐसा मोक्ष तीर भी है एक तरह मोक्ष तीर भी किनारा है संसार सागर मोक्ष दीवे संसार तस्वीन महती अर्थवे ऐसा महान सागर में प्रापतम पतित ये देवता लोग गिर गए अब उनको पार होने के लिए मुश्किल पड़ेगा ये कहा पतितवत्या बोल दिया प्राप्त जाता था से तत्शब्दार्थम आह ताएता का अर्थ ता मैंने अग्नियादय देवता तत्शब्द का अर्थ कर अग्नि आदि देवता दिया लोक बालक के तो संकल्प सृष्टा परमात्मा ईश्वर ईश्वर ने संकल्प संकल्प करके सृष्टि किया था लोग लोक की रक्षा करेंगे किंतु वही गिर गए ऐसी स्थिति हो गई अस्मिन महार प्रापतम बोल दिया ये बोलना चाहते हैं ये तत् शब्दार्थमा लोकपालक ता एता में जो एता आया है एता का अर्थ लोकपाल रूप से संकल्प किया था लोग की रक्षा करके करके संकल्प करके इनको बनाया था असमायादि सृष्टि उपयोगी एतासाम स्वरूप अज्ञान पूर्वक संसार ब्रह्मांड रूपे पति तत्व आसक्तम आसक्तत्व तन्मात्र अभिमान यद बद्धत्व तराह अश्विन इत्यादि अश्विन महती अर्थ में प्राप्तन है उसका अर्थ करना चाहते हैं असवायादि सृष्टि उड़ती ये जो है ना ये संसार सागर में गिरना माने सारा बताना चाहते हैं किसके लिए भूख प्यास की सृष्टि के उपयोगी है भूख प्यास लगने के बाद भी शुरू हो जाएगा सभी काम अनर्थ शुरू हो जाएगा इसलिए भूख प्यास लगा देंगे उनका संसार की सागर में गिराने के लिए भूख प्यास शुरू कर देंगे ठीक है असनायादि सृष्टि आगे तम असमाप्त आद्यम अन्नवार्जत ऐसा आना है भूख प्यास आदि की सृष्टि के उपयोगी है ये उपयोगी होने से एता इन देवताओं का स्वरूप अज्ञान पूर्वकम अपना स्वरूप का अज्ञान रहेगा उनको तब यह अनर्थ में पड़ जाते हैं अज्ञान पूर्वकम संसार ये ब्रह्मांड रूप है जो संसार सागर है ब्रह्मांड रूप सागर है ब्रह्मांड रूप सागर है चौदह भुवन में घूमना यही है इनका काम यही रहेगा तत्व आसक्त गिरना माने आसक्ति हो जाना है इनको भूख प्यास लगा दिया तो फिर ये चाहिए वो चाहिए आसक्ति होने लग जाएगी सबसे पहले भूख प्यास शुरू हो जाती है आप नंगे भी हैं भूखे भी हैं रहने का स्थान भी नहीं है तो सबसे पहले क्या चाहेंगे आप आप भूखे भी हैं नंगे भी हैं रहने का स्थान भी नहीं निराश्रय बैठे हैं तीनों से अभाव तीनों का अभाव आपके पास हो तो सबसे पहले क्या चाहेंगे आप भूख मिटाना चाहेंगे वहीं से शुरू होता है भूख मिटने के बाद में वस्त्र चाहेंगे उसके बाद जाने का स्थान चाहेंगे इसी के लिए संसार को घूमना होता है ये यही है संसार घूमने का तरीका इसलिए सबसे पहले शुरुआत अन्न से है अन्न पानी से है यही होता है जब भूखा व्यक्ति होगा नंगा भी होगा आश्रय भी नहीं होगा उसमें भूखा व्यक्ति पहले आश्रय नहीं ढूंढेगा वस्त्र नहीं ढूंढेगा अन्न ढूंढेगा अन्न मिलने के बाद में फिर वस्त्र ढूंढेगा उसे बाद में फिर आश्रय ढूंढेगा ऐसा होता है ये संसार हो जाता है इसलिए तम असमाप्य पाशाप्यम अनुवाद ऐसा कहना चाहते हैं ये कहा पति तत्व मैंने आसक्त संसार में गिर गए आसक्त हो गए यही ये गिरना है कोई गिरे में वहां से नीचे आए में आसक्ति हो गई जाति में जो भूख प्यास से युक्त कर लिया उसके कारण से आसक्ति शुरू हो गई मात्र तो अभिमान यद बद्धत्व अथवा उसमें अभिमान करके भूख भूख प्यास आदि में अभिमान करके बद्धत्व हो गया बंधन में पड़ गए देवता ये कहना चाहते हैं अस्मिन महती संसार और अदे कहा संसार समुद्र प्राप्त कहा इस संसार समुद्र में गिर गए भूख प्यास लगने के बाद सब कुछ हो जाता है सब शुरू कर देगा अरब अरणव सादृश्य महा यह समुद्र तो नहीं समुद्र जैसा है समुद्र में जो जो चीज पाए जाते हैं वो चीज संसार समुद्र में भी है सादृश्य बताते हैं समुद्र का सादृश्य दिखाते हैं अविद्या काम कर्म प्रभव प्रभव दुखोद के कहते हैं वहां तो जल में समुद्र है समुद्र में जल है जल भरा है यहां पर अविद्या काम कर्म से उत्पन्न दुख रूपी जल है अपना स्वरूप का ज्ञान है अज्ञान अंतर काम इच्छा तत्त विश्व की इच्छा इच्छा हो गई तत्त अनुकूल कर्म यही है संसार सागर उसमें दुख कर्म कर्म में दुख है आगे सफलता मिलने में दुख है संसार सारे अविद्या काम कर्म प्रभु दुख है जब अज्ञान है तो कामना रहेगी रहेगी इच्छा रहेगी रहेगी और इच्छा होगी तो फिर वो सुखी रह नहीं सकता काम किंकरताम प्राप्य जनो न कश्य किंकर एकम कामम परित्यक्त जनौषो कश्य किंकर ऐसा कहा है काम रूपी दासता को प्राप्त करके काम मैंने इच्छा किसी विषय की इच्छा हो गई हो इच्छा इच्छा की इच्छा की दासता को प्राप्त करके कौन दास गुलाम नहीं बना कौन गुलाम नहीं बना काम कहीं करता हम प्राप्त जनो न कश्य कहीं करा किसका गुलाम नहीं बना देखते एकम कामम परित्यक्त और एक इच्छा को परित्याग कर दिया हो यदि तो सब कश्य कहीं कर फिर किसका गुलाम बनेगा इच्छा नहीं है तो किसके दास बनेगा और इच्छा के वशीभूत हुआ व्यक्ति किसका दास नहीं बनेगा ऐसा कहा सबका दास बनेगा अपने इच्छा पूर्ति के लिए कुछ भी कर सकता है काम अत्यं करताम प्राप्त जनो न कश्य के कर वो जन किसका दास नहीं होगा और एकम कामम परित्यक्त एक इच्छा को यदि परित्याग कर दिया तो जनोसव कश्य किं करा असौ जन कश्य किं किसका दास बनेगा नहीं बन सकता तो ये इच्छा ऐसी चीज है इच्छा हो जाती है उसके विषय की उपलब्धि के लिए कर्म करेगा फिर फल भोगना फिर कर्म करना चलता रहेगा ये संसार है महत्व माने अविद्या काम कर्म प्रभु छह कहा माने और अपने अज्ञान से विषयों की इच्छा विषयों की इच्छा से उसकी पूर्ति के लिए कर्म ऐसे अविद्या काम कर्म से उत्पन्न होने वाले दुख है इस ये समुद्र में दुख भरा हुआ है ऐसा दुख उदक वाला समुद्र और तीव्र रोग जरा मृत्यु महाग्राह बोला था इसके विशेषण और दिया था भयंकर रोग है इसमें पीड़ा है सभी कष्ट में है सारे के सारे बीमार पड़े हुए रोग लगा हुआ सबका सब रोगी है कोई इधर दर्द बोलता है कोई उधर दर्द बोलता है कोई उधर बोलता है कोई उधर बोलता है सब ऐसे रोग के पड़े हैं तीव्र रोग भयंकर रोग है टीबी आदि जो भी होते हैं कैंसर आदि रोग ऐसा भयंकर रोग है कहीं जरा मृत्यु महाग्रह है जरा रोग मृत्यु रोग बहुत बड़ा रोग है ऐसा रोग होता है जन्म दुखम जरा दुखम मृत्यु दुखम तथा बचा जन्म दुखम जरा दुखम मृत्यु दुखम अंतकाले महद दुखम तस्मा जागृही जागृह ऐसा शंकराचार्य ने एक जागृही जागृह का जगो जगो बोलते हैं जन्म का दुख बहुत भयंकर दुख है जन्म दुखम जरा दुखम व्याधि दुखम तथा ही बचा जन्म का दुख जरावस्था का दुख जो बूढ़ा होगा उसी को पता लगेगा जरा अवस्था में कितना कष्ट होता है और कष्ट रोगी को पता होता है व्याधि का दुख व्याधि दुखम तथा ही बचा जन्म दुखम जरा दुखम व्याधि दुखम तथा ही बचा अंतकाले महद दुखम अंतिम समय में तो अति दुख होता है शरीर छोड़ना नहीं चाहता फिर भी छोड़ना पड़ता है तस्मात जागरी जागरी अभी से जगो आत्मज्ञान प्राप्त करो ज्यादा सोना नहीं बहुत सो गए हो अभी से जगो संग्राचार्य जैसा काम क्रोधादय सर्वे देहे तिष्ठन्ति तस्करा चोर बाहर में भीतर बैठे हुए हैं शंकराचार्य ऐसा बोलते हैं काम क्रोधादय सर्वे देहे तिष्ठन्ति तस्करा ज्ञान रत्न ज्ञान रत्नापहारा या तस्मात जागरी जागरी या ज्ञान रूपी रत्न है आत्मज्ञान रूपी रत्न है आत्मा रूपी रत्न है पुस्तक उसको चोरी करने के लिए काम क्रोध लोग मोह बैठे हैं कामना होगी विषय में बाहर चला जाएगा ज्ञान रूपी रत्न चोरी करके ले जाएंगे वो तो विषय रूपी रत्न देंगे काम यह सर्वे देहे तिष्ठन तस्करा चोर बाहर में भीतर बैठे हुए सब ज्ञान पहाड़ या ज्ञान रूपी रत्न को अपहरण करने के लिए बैठे हुए हैं काम क्रोध लोभ मोह मतलब मत्सर ये चोर है सब शरीर में ही है ज्ञान रूपी रत्न को अपहार करने के लिए बैठे हैं तस्मा जाग अभी से खबरदार जागो जागो बोलते हैं जागृही जागृही उनको आने मत तो चोरों को बाहर करो ज्ञान रूपी रत्न को बचाओ ऐसा शंकराचार्य कहते हैं तो तीव्र रोग जरा मृत्यु महाग्राहे इत्यादि बोला टीका कहना टीका में कहते हैं अविद्यादि प्रभवम दुखम एवं दुष्प्रवेशन गुणेन उदकम एवं उदकम यशमिन संसार सागर में बहुबली समाज दिखा रहे हैं अविद्यादि से अविद्या काम कर्म से उत्पन्न होने वाले दुख ही दुष्प्रे दुखम एवं दुष्प्रे प्रवेशन उसमें प्रवेश करना बड़ा मुश्किल है ऐसा है दुष्प्रवेशन जो गुण है वहां ऐसे गुण रूपी उदक के द्वारा उदक है इसमें उदकम इव उदकम इसमें ऐसे उदक के समान जल के समान जल है इसमें इसलिए यह संसार सागर ऐसा हो जाएगा और तीव्र आदय एवं जो तीव्र रोग है तीव्र आदय भयंकर ग्रह यही ग्रह है भय करने वाले यही है रोग रोगी डरता है डॉक्टर के शरण में जाता है यही स्थिति हो जाती है क्यों बचने की चाहता है यही यही होता है रोग यहाँ संसार सागर का रोग यही है तीव्र रोग आदि जो बड़े बड़े रोग लग जाते हैं कैंसर आदि है हार्ट आदि है ऐसे बड़े रोग लग जाए तो ये हमेशा डरा हुआ रहता है जैसे मगरमच्छ से डरता है वैसे रोग से डरा हुआ होता है तीव्र रोग आ रहे एवं जो भयंकर रोग होते हैं वही भयंकर भय करने वाले हैं वो भय देने वाले हैं जिसमें आएंगे ग्राहक जिसके पास आएगा वो डरेगा वैसे हम बड़े बड़े रोग आ गए तो डर जाता है मरने का डर है इसलिए ग्राह के स्थान में कहा वहीं कर्म में ग्राह न क्रालय हो कहा जिसमें ऐसा है जिस संसार सागर में तत्व ज्ञानम अंतरेणा भावात आदव अनंत है आत्मज्ञान के बिना इनका विनाश होता नहीं है इसलिए अनादिकाल से चल रहा है अनंत काल तक रहेगा आत्मज्ञान के बिना अनादिकाल से अनंत काल तक है इसलिए नान तो न जागिर न सम प्रतिशा ही कहा था गीता में ये स्थिति है संसार सागर की तत्व ज्ञान मैंने आत्मज्ञान आत्मज्ञान के बिना विनाश अभाव विनाश का अभाव है विनाश हो नहीं सकता इसका ऐसा है इसलिए अनंते अनादो अनंते कहा अंते अनंते अज्ञान उत्तर अवधि अभाव है ना अज्ञानियों के लिए पार में कोई अवधि नहीं है पार में कोई उत्तर अवधि नहीं है चल रहा चल रहा चलता ही रहेगा ये नहीं कि जा करके किनारा लग जाए अज्ञानी के लिए नहीं घूमता रहता है ये सीधा जाए तब ना घूमता रहेगा चक्कर काटता रहेगा चौथी ब्रह्मांड में घूमना है इसमें तो अज्ञान आम जो अज्ञानी जन है आत्मज्ञान जिनको नहीं है उनके लिए उनका उत्तर अवधि अभाव है ना उत्तर तट नहीं है प्रवेश तो हो गया इधर से किंतु उधर तट है ही नहीं चलता ही रहेगा उत्तर अवधि अभाव है ना अपारे पार होना संभव नहीं है पल्ला किनारा है ना कहां पार होना है चलता रहेगा अज्ञान घूमते रहेंगे चौदह भुवन में वही पासपोर्ट बना हुआ है बीजा अब ये शरीर में है आगे दूसरे शरीर में बीजा बदला चला गया फिर वहां से बीजा का तीसरे में जाना जाएगा पासपोर्ट है तो शाश्वत मिला हुआ पासपोर्ट उसको ये नहीं पंचवर्षीय पासपोर्ट तो है ना उसका हमेशा के लिए मिला हुआ है उनका है ऐसा है अपारे विश्राम स्थान अभाव है ना निरालंबे बीच में कोई कोई रुकने का स्थान नहीं है निरालंब बोल दिया संसार सागर निरालंब है आलंबन मिलता ही नहीं जन्मो मरो फिर वहां जन्मो फिर मरो ये चलता रहेगा रुकने की जगह ही नहीं है पुनरअपि जन्म पुनर्भि मरण यही चलता रहेगा अपने कर्म के आधार पर शरीर बदलते रहेंगे कभी पाकिस्तान पहुंचा कभी अमेरिका पहुंचा इसलिए आएगी हाँ। कोई गलत देश में पहुंच जाता है कभी अच्छे देश में पहुंच जाता है ऐसी स्थिति इसकी होगी कर्म के आधार पर किंतु तो चलते रहना है ये स्थिति होगी विश्राम स्थान अभाव है ना निरालंबे निरालंबे कहा था संसार का विशेषण लगाया था सागर का विश्राम स्थान नहीं है चलते रहना इसलिए निरालंबे कहा समीचीन विश्राम स्थान अभाव भी तद आभास अस्थित वास्तविक विश्राम स्थान तो नहीं है किंतु विश्राम स्थान का आभास है इंद्रिय और विषय जनित जो सुख लव सुख मिलता है तो थोड़ा सा आनंदी आनंद हो जाता है आभास है ये कहते हैं एक कहा विषय इंद्रिय जनित सुख लव शुभ शुभ लव लक्षण विश्राम कहा था <clears throat> विषय और इंद्रिय जनित जो सुख होगा तब इष्ट विषय मिलने पर कुछ आनंद मिल जाता है थोड़ा सा वो वास्तव में सुख नहीं है सुखाभास है ऐसा विश्राम थोड़ा सा मिलता है कभी थोड़ा सा विश्राम मिलता है तो दुखी दुख है ऐसे अच्छा <clears throat> विषय इंद्रिय संबंध जनित सुखलेश रूपो विश्राम इसमें ऐसा कहा विषय और इंद्रिय से संबंध से होने वाला उत्पन्न होने वाला सुख सुख का गंड हाँ, रूप जो विश्राम जिस संसार समुद्र में है ऐसा और पंचेन्द्रिया नाम अर्थेशु विषयसु शब्दादिशु पांच इंद्रियों हैं और उनका अर्थ मैंने होता है पांच विषय है शब्द स्वर स्वरूप रसगंध या त्रिट जो त्रिष्ठा लगी हुई है इतने त्रिष्ठा है इतना त्रिष्ठा है शब्दाकार वृत्ति बनाते बनाते रसाकार बना देगा रसाकार के बाद बना देगा गंधाकार बदलता रहता है वो भी लू वो भी लू वो भी लू इतनी आपदा भी पड़ी है इसको और कब से भोग रहा है कब तक भोगेगा तृप्ति नहीं है ये भी नहीं हम कितने बार इसको भोगे हैं जिस शरीर में गए भोगा तो पांच विषय है अनादिकाल से हम चल रहे हैं और इन्हीं पंच विषयों को भोगते रहे और कोई काम नहीं हमारे किसी भी शरीर में गए यही है देखना सुनना सुनना चढ़ना माने स्पर्श करना यही काम हुआ है सभी किसी चौरासी लाख में यही हुआ किंतु तृप्ति नहीं ऐसा संसार सागर रहेंगे ये कहा पंचे पंच नाम जो पांच ज्ञानेन्द्रिया हमारे पास हैं चक्षु स्रोत्र आदि पांच ज्ञानेन्द्रिया उनका अर्थेशु विषयशु शब्दादिशु या तृप्त शब्द स्पर्श आदि की जो तृष्णा है कितने लिया तृप्ति नहीं और और और है कितने शब्द सुना है का तृप्त वर्ष और सुनना चाहता है कितना रस का आस्वादन किया खट्टा मीठा बहुत कुछ किया कितने जन्मों से किया तृप्ति नहीं और और और सुबह चखा फिर चढ़ना चाहता है यात्रिक तृष्णा सैव मारुत सैव मारुता कोई तृष्णा ही है इस समुद्र के लहर निकालने वाले विक्षोभित करने वाले हवा है जो तृष्णा विष्णु की जो तृष्णा लगे शंकर प्रसाद की तृष्णा तत्कृतो यो विक्षोभ उस जब हवा से पानी हिल जाता है यहां भी संसार सागर हिलेगा उससे आगे सोमवार आ जाती आ जाता है विक्षोभ तेन उत्थित उस विक्षोभ से उत्पन्न हुआ जो उत्थितानी अनर्थ सतानी अनेक प्रकार के अनर्थ उत्पन्न हो जाते हैं जब शब्द स्पर्श की दृष्टा बढ़ जाती है तो क्या क्या अनर्थ सामने आ जाते हैं अनर्थ सतानी विषय संपादना बिना क्लेश विषय संपादन करने से जो क्लेश आते हैं विषय पहले तो संपादन करना ही मुश्किल है किस तरह से उस कब्जा में लेना है लेने के बाद ये बुद्धि होती है कि दूसरे के पास न जाए तो रक्षा की चिंता हो जाती है क्लेश वहां भी है वहां भी क्लेश है माने ये पता नहीं कि जब मेरे पास पहले नहीं थे दूसरे के पास थे वहां से मेरे पास आया तो मेरे से भी जाएगा ये नहीं सोचता दूसरे से तो लू किंतु यहां से न जाए ये बुद्धि होती है अर्थानाम आर्दने दुखम तथा व परिपालने नष्टे दुखम देये दुखम ठीक अर्थान नर्थकारिण पंचदशी ने ऐसा कहा कि तो विषयों का आर्जन करना सबसे कठिन है मुश्किल है कितना करके लेना पड़ता है बड़े मुश्किल से आर्जन करेगा शब्द स्पर्श भोगने के लिए उसके साधन जो आर्जन करेगा शब्द आदि के लिए उसके जो साधन होगा जिसमें शब्द होगा सुनेगा जिसमें रूप होगा ऐसे वस्तु लेना है वो दूसरे के कब्जे में होते हैं अर्थाराम आर्जन दुख तथा ही परिपाल है उनकी रक्षा में उतने दुख है अब मेरे पास आए तो यहां से न जाए ये चिंता है बने रहे मेरे पास दूसरे से लेने तो अच्छा रहा चंद अब यहां से देना नहीं चाहता वो भी कष्ट पाना पड़ा गया व्यय दुख नष्टे दुखम व्यय दुखम किसी प्रकार से नाश हो गया आग लग गई विषय जल, जल गया दुख शुरू हो गया खर्च करने में भी कष्ट होता है नष्टे दुखम व्यय दुखम खर्च करने जहां पर दस रुपये खर्च करना हो वहां मन होता है एक रुपये बच जाए तो अच्छा ये बुद्धि होती है व्यय करने में खर्च करने में कष्ट होता है इसलिए धिक अर्थान अनर्थकारी अर्थों का अधिकार है ये अनर्थ करने वाले हैं अर्थ शब्द से बोल दिया है करते अनर्थ ये किंतु अर्थ शब्द से कहा हुआ है ऐसा है तो ये कहा यहां इंद्रियाणाम अर्थेशु विषयशु शब्दादिशु यात्रित इंद्रियों का जो विषयों में जो तृष्णा है और मिले और मिले और मिले जो तृष्णा है तृप्ति नहीं है तृष्णा है वो तृष्णा ही मारूत है मान हावा है उसके द्वारा संसार रूपी समुद्र हिल जाता है हावा है तत्कृत ये विक्षोभ उस हावा ने विक्षोभ कर दिया समुद्र को विक्षोभ तेरह उत्थित उत्थितानी अनर्थ स्थान उसके द्वारा जो लहरें आ गया नाना प्रकार की लहर शुरू हो गए ये लहरें विषय संपादन आदि ना क्लेश जो विषय संपादन आदि से आने वाले क्लेश ये लहर है क्लेश ते एवं उर्मा वही है उर्मी माने तरंगे यही है बड़े बड़े द्वार भाटे यही है संसार समुद्र के कहा इसमें और महारौरव आदय एवं अनेक इंद्रिय अनेक प्रकार के नरक भी है ये संसार समुद्र में महारौरवादी क्या है ये नरक विशेष तदगता वो नरक क्या है नरक माने तो पुराणों में नरक तो दक्षिण के तरफ है माने मृत्यु के बाद मिलने वाले नरक हैं यहाँ तो जन्म के नरक है यहाँ कौन है नरक गर्भलाश एक नरक है महारौरव भूमिपाक आदि नरक इन्हीं का नाम है गर्भवास है माता के गर्भ में पेट के भीतर में हवा में कुछ नहीं ऐसे मांस के भीतर में पहले गर्भवास ये नरक है ये नरक है यात्रा गर्भवास तम निष्कर्म उस गर्भवास से निकलना भी इतना कठिन है जो प्रसूति वायु का धक्का लगने पर जो निकलना है वो वो भी एक नरक उस बालक को कितना कष्ट होता होगा निकलते समय गर्भवास तंग स्वाम वहां से निष्कर्म होना और बाल्यादि अवस्था दूसरे के अधीन होकर के रहना है पिटाई करके तो रोए कुछ कर नहीं सकता पड़ा हुआ है कोई दूध पिला दे तो पिए खा नहीं सकता वो नरक नहीं तो क्या है वो बाल्यादि अवस्था नरक ही नरक है थोड़ा बड़ा हो गया फिर गुरु के शासन में पड़ गया स्कूल जाओ स्कूल जाओ बोलने वहां के शासन में है कभी भी शासन से बाहर है ही नहीं हमेशा इंद्राज के शासन है इसके लिए ये नरक है गर्भवास तम निष्क्रमण गर्भवास उसके द्वारा निकलना और बाल्य आदि जो अवस्था है बाल्य अवस्था यौवन अवस्था आदि सब नरक है ये अवस्था मरणांता कहां तक मरण तक नरक ही नरक है ये माने गर्भवास से लेकर के मरण तक नरक के बाहर नहीं होता ये हमेशा शासित होकर के रहना पड़ता है किसी न किसी का शासन में इसको रहना है ऐसी स्थिति आई एक घर का मालिक बनेगा किंतु कितने घरों का वो सेवक बना हुआ होगा स्थिति एक गर्भवास तमेश्वर बाल्यादय मरणांता ये अनेके निरय है यही है नरक यहां अनेक निरय ये नरक है दुखजनक ये सारे दुख देने वाले हैं गर्भवास से लेकर के मरण तक दुखी दुख देने वाले नरक में दुख होता है तो ये भी दुख देने वाले नरक है निराया कहा तदगता नाम और वो जो नरक में पड़े हुए व्यक्तियों का पूजन होता है हा हा हु रोदन होता है वैसे यहां भी है सदगतना नरक में पड़े हुए व्यक्तियों का ये नरक में यानी जितने भी हा हा इत्यादि भी पूजित आनी स्वल्प धनाया हाँ, हा हा करके रोते हैं माने स्वल्प ध्वनि है हा हा करके पूजित माने स्वल्प ध्वनि जैसे चिड़िया के ध्वनि को पूजित बोलते हैं वैसे स्वल्प ध्वनि थोड़े दुख होता है तो थोड़े रोते हैं और आक्रोशवाणी महाध्वनय क्या आक्रोशन माने यहां महाध्वनि है ये महाध्वजय नहीं महाध्वनय महाध्वनय तद उद्भुत महारवो यशम उस स्वरूप ध्वनि और महाध्वनि जो निकलती है इसकी तरह उद्भुत होने वाला महान रव है महान शब्द इसमें लगा हुआ है नरक में शब्द होता है भयंकर चिल्लाते हैं लोग यहां भी चिल्ला रहे हैं ऐसा गर्भवास आदि से लेकर के मरण तक रोना ही रोना है हा हा हा हाई हाई हाई हाई हाई हाई इसी में जाता है दिया है ऐसा नरक में पड़ा हुआ होता है जीवन ऐसा संसार सागर है अथवा कहीं कहीं पाठ ऐसा ही है कहते हैं भाष्य में भी अनेक निरया इति पाठ है भाष्य में भी ऐसा पाठ हो यहाँ तो रौरवाद अनेक निर्य लिखा है भाष्य में किंतु कोई किसी भी पुस्तक में ऐसा मिलता है भी अनेक निर्या महापातक अथवा अल्पपातक दो प्रकार के पातक हैं तो महापातक अथवा अल्पपातक जैसा होगा उपपातक महापातक ऐसे पातक पातक मान बहुत बड़ा पाप बहुत बड़ा घटना घटाई आपने जिसको पातक बोलते हैं वो महापातक जैसे गुरु माँ के साथ संबंध करना आदि आदि ब्राह्मण के चोरी सोना चोरी करना ये महापातक में आते हैं महापातक आदि अनेक निर्णय यदि पाठ है महापातक आदि अनेक निर्णय ऐसा पाठ यदि भाष्य में हो तो क्या करना आता महापातक जन्या निरया दृष्टा महापातक से होने वाले जो यात्राएं हैं वो नरक समझना कहा <clears throat> महापातक अथवा उपपातक दो प्रकार के पातक होते बड़े बड़े पाप होते हैं उसके लिए कहा भी है महापातक संयुक्त उपपातक एवं प्रविष्य रजनी पादम ब्रह्म ध्यान समाचार महापातक से युक्त हो अथवा उपपातक से युक्त हो बड़े बड़े पाप किया हो क्या करे रजनी पादम प्रविश्य ब्रह्म ध्यान समाप्त समाप्त रजनी माने रात्रि उसके चरण अंतिम चरण माने तीन बजे का समय तीन बजे से आगे एक पाद होता है छह से नौ नौ से बारह बारह से तीन तीन से चार छह एक तो प्रातःकाल तीन बजे किस तरह से उठ करके आत्मचिंतन करेगा सारा पाप मिटेगा ऐसा कहा महापातक संयुक्त हो उपपातक नहीं पवा प्रविष्ट रजनी पादम ब्रह्म ध्यान घोषणा करें रजनी का पाद ये नहीं कि सुबह का निद्रा अच्छी होती है मीठी निद्रा होती है इसलिए सोना चाहिए निद्रा नहीं बिगाड़ना चाहिए ऐसा आजकल के संत लोग बोलने लग गए क्यों रात भर नेट देखा है दो बजे तो सोया है वो तीन बजे उठेगा कैसे हाँ। क्योंकि आजकल तो नेट आ गया है पढ़ाई पढ़ाई तो पुराने जमाने की बात है आज तो विकसित भारत है महापात का संयुक्त का विवाह प्रविष्ट रजनी पादन ब्रह्म ध्यान समाचार जैसा कहा है मान तीन बजे कम से कम बिस्तरा छोड़ना चाहिए यदि सातक होना हो तो पहले छोड़े अच्छी बात जल्दी सो जल्दी उठो संतों का कहना होता था पहले जमाने के समय ऐसा बोलते थे क्यों सायकाल दिन भर हमने इंद्रियों के द्वारा विषय ग्रहण किया हुआ है हमारी इंद्रियां विचलित है इनके द्वारा जैसे इंद्रियों ने मन में ला करके भर दिया सारे संस्कार मन विचलित हुआ होता है सायकाल तमोगुण तो युक्त होता है उसमें भजन साधन होना संभव नहीं है इसलिए जल्दी सो जाओ और प्रातःकाल जब होगा तो स्वच्छ होता है बुद्धि स्वच्छ होती उस काल में मन स्वच्छ होगा इंद्रिया में स्वच्छ रहेगी उस काल में कुछ चिंतन हो सकता है इसलिए हमारे पूर्वजों ने प्रातः काल को चुना हुआ है स्थिति तो महापातकादि अनेक निरय इति पाठे महापातक जन्य निरय इतम कहा संसार संसार अरणवश्य एवं भूतत्व संसार सागर जब ऐसा है दुखी दुख भरा हुआ है स्थिति में आ गया ऐसी स्थिति है तो तस्य तरह असंभव फिर उसको पार होना तो संभव नहीं है जब संसार सागर स्थिति की है अनादि है अपार है विश्राम स्थान नहीं है ऐसी स्थिति है घूमना ही घूमना है इसमें चौदह ब्रह्मांड में घूमना है पार होना नहीं है कभी तो फिर ये मोक्ष उपयोगी शास्त्र किस काम में आएंगे आप आत्मज्ञान के उपयोगी शास्त्र अध्यात्म शास्त्र की उपयोगिता नहीं क्यों चाहे पढ़ो चाहे न पढ़ो संसार में घूमना है जब ये शास्त्र किस काम आएंगे प्रश्न आएगा तस् तर असंभवात मोक्ष शास्त्र अनर्थक अनर्थक्यम फिर संसार सागर जब ऐसी परिस्थितियां है तो उसको पार करना संभव नहीं है तो मोक्ष शास्त्र जितने भी अनर्थक हो जाएगा ये शंका कर दी आशंका विवेक अविवेकी नाम तथा भी कि अज्ञानियों के लिए घूमते रहना है ठीक है और जाए जायश्वर मृहस्व होता रहेगा घूमते रहेंगे चौदह भुवन अविवेकी नाम तथा भी संसार सागर में घूम घूमना होने पर भी विवेकी नाम तत्करण उपाय अस्थित जो विवेकी लोग होंगे उसके लिए संसार सागर पार होने के उपाय है यानी जो विवेकी होंगे उनके लिए संसार सागर पार होने के उपाय है इसलिए उसको लेकर के ये मोक्ष शास्त्र चरितार्थ हो जाएंगे ये बोलना चाहते हैं इसलिए कहा विवेकी को लेकर के कहा सत्यार्जव दान दया अहिंसा समदम इत्यादि आत्मगुण है पूर्ण ज्ञान है इत्यादि कहा सत्यादयो ये आत्मगुणा सत्यादि जो आत्मगुण है वास्तव में नैया के तरह आत्मगुण नहीं समझना सत्य दान आदि आत्मा के गुण नहीं है वास्तव क्या है आत्मगुणा में कहा आत्मज्ञानुगुण आत्मज्ञान के अनुकूल है ये आत्मा के गुण नहीं है आत्मज्ञान के लिए अनुकूल है ऐसा समझना सत्यादि को साधन है वो ये कहा सत्यादय आत्मगुणा माने आत्मज्ञान के प्राप्ति के साधन है जिसके पास सत्यादि साधन हो उसको आत्मज्ञान होगा ये कहना है आत्मगुणा तेव पाथेयम माने वही पाथे है पथि साधु पाथेयम उस मोक्ष मार्ग में साधन है ये साधु है इसलिए पाथेय होगा पथि अतिथि बसतेर ठया ऐसा सूत्र आता है पथि शब्द अतिथि शब्द बसती शब्द से घय प्रत्यय हो जाते हैं पाथेय आतिथेय भाषतेय ऐसा बनता है पाथेय माने पथी असन मार्ग के भोजन वही है आप मोक्ष मार्ग में जाना हो तो सत्य दयादि साधन अपनाना चाहिए यही होगा आत्मज्ञान के साथ तेल पूर्णम उस सत्यादि साधन से पूर्ण बड़ा हुआ होगा ज्ञान रूपी नौका आत्मज्ञान रूपी नौका तेल पूर्णम ज्ञानम एवं उड़पम प्रभो जिसमें उड़ूप प्लब है नौका है ज्ञान रूपी नौका जिस सागर में ये भी है ये एक एक कोने में भी पड़ा हुआ है ये कहा और सत्संग सर्वत्याग मार्गे कहा था उसके अर्थ करते हैं सत्संग माने गुरु संपत्ति गुरु के प्राप्ति हो करना गुरु की संधि प्राप्त करना क्यों कोई उपदेश देंगे तो फिर उसी के माध्यम से हमारा कल्याण होगा विद्धि प्रणिपाते न परिप्रश्न सेवया उपदेक्षण ज्ञानम ज्ञान तत्व दर्शन तदविधि प्रणिपाते न परिप्रश्न सेवया आजकल महात्मा के पास जाते हैं सीधा प्रश्न करते हैं और महात्मा भी इतने उदार हो गए तुरंत उत्तर दे देते हैं गीता के विरुद्ध है ये आपको चाहिए सबसे पहले तत्विधि प्रणिपात है वहां जाकर के चाष्टांग दंडोत प्रणाम करें प्रणिपात है फिर सेवाया दूसरे नंबर में उनके अनुकूल सेवा करें उसके बाद प्रश्न करें तीसरे कोटि में ये नहीं कि सीधा जाके प्रश्न करें ये गलत है <clears throat> अच्छा तो सत्संग माने गुरु संपत्ति माने गुरु की सान्निध्य प्राप्त करना सर्वत्याग माने संन्यास लोकेशणा पित्तेषणा पुत्रेषणा का परित्याग एक जिस मार्ग में है आत्मज्ञान मार्ग एवं मार्गो मार्ग है ज्ञान उड़ूप प्रवृत्ति हेतु ज्ञान रूपी उड़ूप के प्रवृत्ति का हेतु यही है ज्ञान रूपी उड़ुक तभी तैयार होगा ज्ञान रूपी नौका तभी तैयार होगा यदि तो गुरु के पास जाएंगे और सर्व त्याग कर, कर सकेंगे आप तब ज्ञान रूपी नौका हो सकता है यशमिन मोक्षे कहा यशमिन मोक्षे सती ऐसे होने पर मोक्षे सती पुनः संसारात्म स्पर्शाभाव स्पर्शाभाव मान संसारात्म स्पर्श नहीं होता मोक्ष होने के बाद फिर संसार सागर में पड़ेगा नहीं वो इसलिए सएव तीरव तीरम वही मोक्ष ही तीर है इसका मोक्ष तीरे कहा था भाषण क्यों वहां जाने के बाद फिर आता नहीं यदि गत्वा थे तद धाम परम ममा मेरा स्थान है वो ऐसा बोला हुआ है भगवान ने अपना परिचय दिया है आप नेट से ढूंढ के चले जाना यदि गत्वा निवर्तन दे जहां जाने के बाद लौटना नहीं होता है हाँ वो मेरा स्थान है बस नेट में तो ढूंढ सकते हैं आप लोग मोक्षे सती पुनः संसार संसार अर्णव स्पर्शाभाव संसार के सागर का स्पर्श नहीं होता दोबारा मोक्ष होने पर सएव तीरवत तीरम वही तीर के समान है इसे तीर बोल दिया है यशमिन अर्णवे ये तस्मिन प्रत्यक्ष सिद्धे अर्णवे इत्यर्थ ये ये तस्मिन महती अर्णव प्रत्यक्ष सिद्ध संसार सागर प्रत्यक्ष सिद्ध है कोई अनुमान आदि करने की आवश्यकता नहीं है सामने दुख इतना दुख भरा हुआ है हर व्यक्ति दुखी हमेशा दुखी है कभी सुखी नहीं है कुछ ना कुछ दुख लगा होगा बच्चा भी दुखी है जवान भी दुखी है वृद्ध भी दुखी है बाल सब दुखी है हर व्यक्ति दुखी तनु भरी सुखिया काओ न देखा जो देखा सो दुखिया कभी जी ने ऐसा बोला है गारी कोई भी सुखी देखा ही नहीं जो भी आज तक मैंने देखा सब दुखी देखा ऐसा कभी नहीं बोलते अत्र पतनम नाम है यहां गिरना मैंने किया प्रापतन आए देवता लोग गिर गए कहा तो पतन माने क्या गिरना माने आत्मस्वरूप अज्ञान है ना संसारे अहम अभिमान है ना सकतत्व ये संसार में आसक्ति कर जाना यही गिरना है आत्मज्ञान नहीं है आत्मज्ञान अपना अज्ञान है अपना स्वरूप का अज्ञान के द्वारा संसार में अहम मैं हूं कहना यह अभिमान कर जाना मैं हूं मेरा है मैं मेरा कर जाना यह अभिमान कहीं मैं होता है कहीं मेरा होता है दो ही तो होता है ये मेरा शत्रु ये मेरा मित्र मेरा लग गया इधर शत्रु में भी लगा मित्र में भी लगा ये मेरा शत्रु ये मेरा मित्र इधर मई ये मई मई मेरा तो संसार है और क्या संसार है कहीं मई मई करके बोलता है कहीं मेरा करके बोलता है शत्रु में भी मेरा बोलता है कि मेरा शत्रु है ये ये मेरा मित्र है ऐसे तो शब्द प्रयोग होता है मैं मेरा संसार होता है ये अभिमान पतन मान यही है क्या है आत्मस्वरूप अज्ञान है अपने स्वरूप के अज्ञान के कारण से संसारे अहम अभिमान है ना संसार में अहम ऐसा अभिमान के होना यही अभिमान के द्वारा सतत्व होना मैंने आसक्त तो हो जाना जो चिपक जाना संजय संजय धातु है चिपक जाना संसार में मैंने अन्य पदार्थों में अहम बुद्धि कर जाना मम बुद्धि कर जाना यही यहां गिरना है जब अन्य में अन्य बुद्धि हो जाती तो गिर गया वो ये स्त्री है कहा समय हो गया है फिर गया

तन्मामवतु तद्वतारमवतु अवतु माम् अवतु भक्ता